सहना श्लोक है तीसरो रात्रि यद आवासी गृह में अनशन ब्रह्मण अतिथि नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीश्व आगे प्रसंग चल रहा है नचिकेता के पास में यमाचार्य आते हैं और उसको संबोधित करते हुए कहते हैं हे अतिथि हे ब्राह्मण तीन रात्रि पर्यंत आप मेरे घर पर रहे हो तीसरो रात्रि ही यानी तीन रात्रियाँ आवासी ही रहें मम मेरे गृह घर पर तीन दिन तुम तो मेरे घर पर रहें वो तो अच्छा है लेकिन किस प्रकार से रहें कह रहे अनशनन बिना खाए पिए भूखे प्यासे तुम रहें और इस प्रकार का जो कष्ट हे ब्राह्मण आपको हुआ है उसके लिए मुझे खेद है तो अब कोई यमाचार्य ने जान करके तो गलती की नहीं थी अनजाने वो कुछ कर भी नहीं सकते थे ऐसी स्थिति में नहीं थे वो उपस्थित ही नहीं थे घर पे और बिना सोचना के उस उनके पीछे से नचिकेता का आना हुआ तो जिस दोष के लिए व्यक्ति का कोई मन नहीं है जानकर नहीं किया है उसके बाद भी वो उसको अपना दोष मान रहे हैं क्योंकि आखिर मेरे घर पर ही तो हुआ है ये घटना में मैं कारण नहीं हूँ सीधा लेकिन ये हुआ तो मेरे यहीं पर ही है तो अपने दोष को स्वीकार कर रहे हैं कितनी बड़ी बात है एक व्यक्ति नचिकेता वो शिक्षा लेने के लिए आया हुआ है और उसकी पात्रता के विषय में हमने विचार किया इन श्लोकों के आधार पे अब यमाचार्य जो ज्ञानी हैं जो उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला है आगे चल कर के उनकी योग्यता को देखें तो जहाँ जानकर दोष नहीं किया उसको भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि कारण तो मैं ही हूँ मेरे घर पर तो हुआ ही है और केवल स्वीकार नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे श्लोक में देखेंगे कि उसके प्रायश्चित स्वरूप को कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं प्रायश्चित भी कर रहे हैं उसका तो यह एक आस्तिक व्यक्ति का आस्तिक भी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति का हम एक लक्षण कहें जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया हुआ है योगाभ्यासी हैं सामान्य व्यवहार में आजकल क्या होता है कि अपने दोष जो व्यक्ति जान करके करता है उनको भी कम ही स्वीकार करता है और यदि स्वीकार कर भी लिया तो क्या कहेगा कितना ही बड़ा सा बड़े दोष हो जाए गाड़ी से जा रहा है किसी को ठोकर मार दे तो एक ही बात कहेगा सॉरी और फिर आगे चला जाएगा उसके पास में एक ही शब्द है लेकिन उतने मात्र से नहीं होता है गलती तो की है एक शब्द मुख से निकाल दिया उसमें क्या बल लगता है लेकिन उस कार्य का प्रायश्चित क्या है गलतियां तो होती हैं कहीं अनजाने में होती है कहीं जान करके होती है लेकिन गलती के लिए केवल शब्दों से काम चलाना इतना तो पर्याप्त नहीं होता है क्रियात्मक रूप से उसके लिए किया क्या प्रायश्चित के रूप में क्या किया और प्रायश्चित के रूप में कुछ किया ही नहीं तो उतने मात्र से वो दोष कभी भी क्षम्य नहीं होगा क्षम्य का मतलब स्वीकृत नहीं होगा वो दंड का भागी तो होगा ही तो दोष को भीतर से अंतकरण से जाकर स्वीकार करने का मतलब क्या है कि उसके लिए कुछ प्रायश्चित भी होना चाहिए उस दोष का निराकरण करने का प्रयास होना चाहिए एक अंतकरण में जाकर वेदना उत्पन्न होना तो उसमें क्या कहते हैं दोष को स्वीकार किया मुख से स्वीकार किया एक आचार्य अपने शिष्य के सामने स्वीकार कर रहा है शिष्य अभी बना तो नहीं है लेकिन शिष्य की अवस्था का ही है उसके सामने स्वीकार कर रहा है कि तुम मेरे घर में तीन दिन बिना खाए पिए रहें तो उसमें अहंकार शून्यता हम देख सकते हैं कि अहंकार नहीं है नहीं तो एक बड़ी अवस्था का विद्वान ब्रह्मजानी व्यक्ति अपने शिष्य जैसे व्यक्ति के सामने कहे कि मेरे से ये दोष हुआ है ये कितनी बड़ी अहंकार शून्यता की बात है तो कह तो कहते हैं नमस्य एक शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर नमस्य यानी हे ब्राह्मण हे अतिथि तुम नमस्कार करने योग्य हो सम्मान करने योग्य हो भले मैं आचार्य हूँ लेकिन अभी तुम अतिथि के रूप में हो और अतिथि के रूप में हो तो तुम्हारा सम्मान किया जाना चाहिए सम्मान को प्राप्त करने के तुम अधिकारी हो और वो सम्मान जो किया जाना चाहिए अतिथि के रूप में वो मैंने नहीं किया नहीं कर पाया मैं तो क्या इसके बदले दोष तो हो गया अब दोष हुआ तो केवल वाणी से नहीं कह रहे कि भाई दोष हो गया चलो अब खा पी लो और भूल जाओ उसको तो कह रहे दोष हुआ तो क्या करना है कह रहे नमस्ते अस्तु ब्राह्मण कह रहे ब्राह्मण हे अतिथि मैं तुमको नमन करता हूँ नमस्ते करता हूँ तुम्हारा सम्मान करता हूँ तुम्हारा सत्कार करता हूँ मैं एक आचार्य कह रहा है और क्या कहा स्वस्ति में अस्तु मेरा कल्याण हो कह रहे मेरा कल्याण तुम्हारे हाथ में है मेरा कल्याण मेरा सुख मेरी शांति तुम्हारे हाथ में है इसलिए मेरा कल्याण तुम करो मेरा कल्याण हो कई सारे विशिष्ट गुण हमको दिखेंगे यमाचारी में अहंकार शून्यता है दोष को मान रहे हैं उसको सम्मान दे रहे हैं और आगे चल कर के उस दोष का निराकरण के लिए क्या बोलते हैं इसलिए हे ब्राह्मण क्या करो आप त्रीन वरान वृणीश्व कह रहे तीन वर मैं तुमको देता हूँ वर माने मांग लो जो भी चीज मुझसे मांगना चाहो क्योंकि तीन रात तुम रहे हो तो उस तीन रात के बदले तीन चीजें मांग लो तीन अपराध हुए मुझसे कि तीनों रात्रियों में कुछ खाया नहीं पिया नहीं भूखे प्यासे रहे कोई उचित सत्कार भी नहीं हो पाया सम्मान भी नहीं हो पाया तो कुछ मुझसे मांग लो और मांगोगे तो मेरा कल्याण होगा मुझ पर कोई उपकार नहीं है मेरी शांति के लिए मांग लो मैं दे रहा हूँ मेरी अपनी शांति के लिए दे रहा हूँ मेरे कल्याण के लिए दे रहा हूँ जो मुझसे अपराध हो गया उसके निराकरण के लिए दे रहा हूँ प्रायश्चित स्वरूप दे रहा हूँ कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ ये तो उसके लिए है जो नहीं दे पाया नहीं हो पाया सम्मान तो कहते हैं तीन वर मांग लो जो भी चाहते हो वो मांग लो कोई शर्तें नहीं रखी कि ये मत मांगो वो मत मांगो कहा तीन चीज़ें कोई भी मांग लो तो यहाँ से एक परीक्षा भी शुरू हुई एक आचार्य के द्वारा एक ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं यदि यहाँ कहें कि भाई एक चीज़ मांग लो तो सबसे पहले कहेंगे मेरा मोबाइल वापस कर दो तो अब एक ब्रह्म जिज्ञासु से परीक्षा कर रहे हैं कह रहे तीन चीज़ें मांग लो तो अब वो क्या क्या मांगता है देखें क्या मांग रहा है अगले श्लोक में पढ़ें कह रहे शांत संकल्प सुमना यथा सियाद वीतमन्यु गौतमो मां अभि मृत्यो प्रसृष्ट मां अभि वदेत प्रतीतम एतत्त्रयाणं प्रथमं वरम वृणी अब सबसे जो पहला वर मांगा वो भी देखें कितनी बड़ी बात है क्योंकि उसके आगमन को हम देखें कहाँ से प्रारंभ हुआ कि अपने पिता के जो अनुचित कर्म हैं उसको देखा उसका विरोध किया और फिर क्रोध में आकर के उसके पिता ने नचिकेता को यमाचार्य के पास भेज दिया अब कोई पिता से कुपित होकर के आए और दोष भी ना हो नचिकेता का तो कोई दोष नहीं है गलत कार्य तो उसके पिता ने सबसे पहला किया कि वो गलत चीज़ों का दान कर रहा था और दूसरा गलत ये किया कि अनावश्यक रूप से उसके ऊपर क्रोध किया और उसको भेज दिया यहाँ पे लेकिन उसके बाद भी वो सबसे जो पहला वर मांग रहे हो अपने पिता के लिए मांग रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है पिता पुत्र के संबंध का कितना महत्व था उस समय उस उपनिषद काल के अंदर कि एक छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर अनावश्यक क्रोध किया गया वो सबसे पहला कुछ चीज़ मांग रहा है तो अपने लिए छोड़ करके वो अपने पिता के लिए मांग रहा है एक पिता का सम्मान सत्कार पितृभक्ति उस उपनिषद काल के अंदर हमको श्लोक के माध्यम से देखती है और यह उसके शिष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रमाण है क्या कहा करे शांत संकल्प कहे यमाचार्य जब मैं घर से आया तो मेरे पिता के संकल्पों के अंदर बड़ी उथल पुथल थी विचारों के अंदर शांति नहीं थी क्योंकि वो कर कुछ रहे थे दिखा कुछ रहे थे हो कुछ रहा है कहने को तो सर्व मेधस यज्ञ कर रहे थे लेकिन उसमें निकृष्ट वस्तुओं का दान दे रहे थे तो उनके संकल्पों में शांति नहीं थी अशांत संकल्प थे इसलिए तो यज्ञ भी कर रहे थे और दान भी निंदित वस्तुओं का कर रहे थे तो कह रहे उनके संकल्प शांत हो जाएं उनके संकल्पों के अंदर जो अशांति है संकल्पों की अशांति क्या होती है योग दर्शन में यदि आपने पढ़ा हो तो हमारे अंदर तीन प्रकार के गुण हम कह सकते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण और इन तीनों के आधार पर तीन प्रकार की स्थितियां हमारे चित्त की होती है सात्विक स्थिति राजसिक स्थिति और तामसिक स्थिति उन तीनों स्थितियों के परिवर्तन होने से अशांति होती है कभी राजसिक स्थिति बन गई कभी सात्विक बन गई कभी तामसिक बन गई वो स्थितियां नियंत्रण में नहीं है कई बार होता है इच्छा तो होती कि बहुत श्रेष्ठ करूं करना चाहता है लेकिन वो करता नहीं है उसको लगता है कि ये दान दो वो देना प्रारंभ भी करता है फिर पीछे हट जाता है और देता भी है तो जितनी इच्छाएं होती उतना करता नहीं परोपकार हो यज्ञ हो कुछ भी काम हो वो दुविधा में जीता है तो जहां दुविधाएं रहती हैं संशय रहता है वहां अशांति होती है एक स्थितियां करना है तो फिर शांति होती है नहीं करना है तो भी शांति होती है करना भी है नहीं भी करना है करना भी है और उचित रीति से भी नहीं करना है तो वो सारी की सारी अशांति की स्थितियां होती हैं तो अपने पिता की अशांत स्थिति को जान करके सबसे पहले वर मांगा नचिकेता ने अपने पिता के लिए कि मेरे पिता के संकल्प शांत हो जाएं। अब यमाचार्य तो यहाँ पर हैं और पिता उसके वहाँ पर हैं और वर उसके लिए मांग रहा है कोई पौराणिक वाला तो वर नहीं है कि तथा बोला तो पूरा हो जाएगा तो कैसे होगा एक विश्वास है जहाँ पिता के लिए वर मांगा जा रहा है वहीं उसको आचार्य की शिक्षा पर विश्वास है कि मेरे आचार्य जिनके पास में आया हूँ वो मेरे पिता को शिक्षा देंगे उनके पास जाएंगे या उनको यहाँ बुलाएंगे उनको शिक्षा देंगे और इनकी शिक्षा से मेरे पिता के संकल्प शांत हो जाएंगे ये विश्वास है उसको यमाचार्य की शिक्षा पर तभी तो मांग रहा है क्योंकि मांगेगा किससे जिससे मिलने की आशाएं होंगी जिससे मिलने का विश्वास होगा उससे तो चीज़ें मांगी जाएंगी तो उसको पता है कि मेरे यमाचार्य जिसके पास मैं आया हूँ ये मेरे पिता को शांत करने का सामर्थ्य रखते हैं और ये इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं जिससे उनको शांति होगी उनकी स्थिति ठीक बनेगी और क्या मांगा कह रहे सुमना उनका मन प्रसन्न हो जाए दुखी है वो क्रोध तो कर दिया लेकिन एक पिता ने पुत्र के ऊपर क्रोध किया तो उसके पास कोई सुख थोड़ी रहता है दुख तो होता ही है अरे गुस्से में आके पता नहीं क्या बोल दिया कभी बहुत क्रोधी व्यक्ति हो तो बेटे को बोल दिया निकल जा घर से और वो निकल गया तो फिर वो ढूंढने निकलेगा तो दुख तो होता है तो वो दुखी तो है मेरे पिता उसको पता है क्रोध में आके बोल तो दिया है तो कहा कि मेरे पिता को प्रसन्नता हो उनका दुख दूर हो जाए तो कहा शांत संकल्प सुमना यथा स्याद जिस प्रकार से भी हो यथा मतलब जैसे पहले थे यथा का मतलब जैसे पहले थे वो मेरे ऊपर क्रोध करने से पहले जैसे मेरे प्रति वो प्रीति रखते थे प्रेम रखते थे प्रसन्नता रखते थे वैसे फिर से हो जाए तो मेरे प्रति उनका स्नेह रहे मुझे उनका कोप नहीं चाहिए उनकी प्रसन्नता चाहिए परस्पर का स्नेह पूर्वक संबंध चाहिए और वो स्याद वो होवे तो कहा तीन बातें कहीं शांत संकल्प संकल्प शांत हो जाए प्रसन्न मन वाले हो जाएं और जैसे पहले थे वैसे हो जाए कौन गौतम गौतम का मतलब एक वंश है गौतम वंश उस वंश में उनके पिता का नाम गौतम था तो पुत्र का नाम गौतम हो गया वीत मन्यु मन्यु माने क्रोध वीत माने दूर तो जिसका क्रोध दूर हो गया है वैसे हो जाए वो अब क्रोध ना रहे उनके अंदर और मां अभी मेरे प्रति क्रोध न रहे मृत्यु है यमाचार्य अब वो क्रोधित ना हो और क्या हो त्वत प्रसृष्टम करे जब आप मेरे को यहां से भेजोगे क्योंकि मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं अब भेजने वाले तो आप ही हैं अपनी इच्छा से तो नहीं जा सकता मैं आया तो पिता की इच्छा से हूँ और जाऊँगा आपकी इच्छा से कितना बड़ा सम्मान है गुरु को कह रहे आप भेजोगे तब जाऊँगा और आपको उचित लगेगा कि अब जाना चाहिए तो मैं जाऊँगा तो एक बहुत बड़ा सम्मान उस काल में एक आचार्य का है और इन शब्दों से वहाँ स्पष्ट होता है एक समर्पण देखिए एक ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति का कि मैं आपकी शरण में आया हूँ अध्ययन के लिए और अध्ययन कब समाप्त होगा ये तो आप जानो इसकी सीमाएं मैं निर्धारित नहीं करता हूँ इसकी सीमाएं तो आप निर्धारित करेंगे ये एक समर्पण की भावना होती है ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर और यही सारे मापदंड थे उस समय ब्रह्म विद्या किसको देनी है किसको नहीं देनी है तो वो समर्पण के भाव यहाँ पर दिख रहे हैं कह रहे माँ अभी वदेत प्रतीतम जब मुझे तुम आप यहाँ से भेजोगे तो मेरे पिता मुझसे अच्छी प्रकार से मिलें अच्छी प्रकार से बातचीत करें एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम ऋणे करे तीन वर मांगे हैं मांगने के लिए कहा है उसमें से पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ ये पहला वर है कि अपने पिता के लिए मैं मांग रहा हूँ यह तीन में से प्रथम वर उस नचिकेता ने यहाँ पे मांगा है अब दूसरा अगला श्लोक पढ़ते हैं यथा पुरस्साद भविता प्रतीत औद्दालक औद्दालकी आरुणी मत प्रसृष्ट सुखे रात्रि शयिता वीतमन्युः त्वा ददत् शिवान् मृत्यु मुखात प्रमुक्तम अब कहते हैं यथा पुरस्साद भविता अब यमाचार्य उसको आशीर्वचन दे रहे हैं यानी उस वर को पूरा करने का अपनी तरफ से आश्वासन दे रहे हैं उसने तो मांग लिया अब मांग लिया तो आचार्य की तरफ से आश्वासन आ रहा है कि हाँ पूरा होगा कह रहे कैसे होगा यथा यथ पुरस्ताद भविता प्रतीत कि जैसे पहले थे भविता वैसी हो जाएंगे कि जैसे शांत थे तुम्हारे प्रति क्रोध नहीं था प्रसन्न मन वाले थे तो जैसे भी थे वैसे मैं कर दूंगा उनको खुद को भी अपनी शिक्षा पर विश्वास है तभी तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए कहा गया इसका क्रोध दूर कर दो तो कह रहे हाँ मैं कर दूंगा तो मांगने वाला भी जानता है कि ये कर सकता है और वो खुद भी जानता है कि मैं कर सकता हूँ ये कितना बड़ा आत्मविश्वास है अपनी शिक्षा के ऊपर कि मैं उसको शांत कर दूंगा उसके क्रोध को दूर कर दूंगा उसके मन में प्रसन्नता को ला दूंगा और जैसे पहला था वैसा बना दूंगा मैं ये एक विश्वास है अपनी ब्रह्म विद्या पर और का अवदालकी आरुणी उसका नाम एक और है नचिकेता का आरुणी अरुण उसके पिता का नाम रहा होगा तो उसका नाम आरुणी हो गया औदालकी उद्दालक का पुत्र औदालकी कई सारे सारे गोत्र नाम बहुत सारे होते थे पहले कह रहे मत प्रतिष्ठा जब तुम मेरे यहाँ से जाओगे तुम मेरे पास से जाओगे तब क्या होगा कह रहे वो जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा और सुखपूर्वक सोएगा क्योंकि जिसको क्रोध है वो कहाँ सोएगा शांति से उसको तो नींद नहीं आएगी तो आगे हो तो सुखपूर्वक सोएगा तुम उसकी चिंता मत करो और कहते हैं मृत्यु मुखात प्रमुखतम कह रहे तुमको देख करके क्या देखेगा तुमको कह रहे मृत्यु मुख से दद्री शिवान कह रहे तुमको देखेगा कि तुम मृत्यु के मुख से चले गए हो दूर हो गए हो इसके दो अर्थ हो सकते हैं एक तो यमाचार्य के पास भेज दिया अब यमाचार्य के पास भेज तो दिया पिता को भी चिंता है पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा जैसे रोजड़ शिविर में आ गए तो घर वालों को चिंता है पता नहीं आएंगे कि वहीं रह जाएंगे सन्यासी बन जाएंगे तो जब वापस जाएंगे तो शांति मिलेगी हाँ चलो आ तो गए तो अब ये भी अर्थ हो सकता है कि भाई यमाचार के पास पिता ने भेज तो दिया अब वापस आएगा कि नहीं आएगा तो जब वापस दिखेगा कि हाँ मेरा पुत्र वापस आ गया तो शांति मिलेगी ये अर्थ हो सकता है दूसरा ये भी अर्थ है कि शिक्षा लेने के लिए गए हैं और वो स्वयं भी जानता है कि जो आया है ये मेरे पास क्यों आया है या मेरे पास क्यों भेजा गया है क्योंकि मेरे पास है क्या मेरे पास ब्रह्म विद्या है और क्या है और तो कुछ है नहीं और ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए आया है और उसकी पात्रता को देख लिया कि इस व्यक्ति व्यक्ति के अंदर पात्रता तो है ही परीक्षण कर लिया परीक्षण और भी चलेंगे लेकिन इतने परीक्षण से ये तो समझ में आ गया कि ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है और इसको ब्रह्म विद्या दी जाएगी तो ये निश्चित रूप से इसे प्राप्त कर सकेगा ये आचार्य को विश्वास हुआ उसके ऊपर और उसने फिर ये विचार किया कि जब ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेगा तो जन्म मरण के बंधन से तो छूट ही जाएगा यानी मृत्यु के मुख से छूट जाएगा मतलब जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं करने वाला है यह भी अर्थ किया जा सकता है तो ये पहला वर दिया कि जब तुम यहां से जाओगे मृत्यु के मुख से छूट जाओगे जन्म मरण के बंधन से पार हो जाओगे ब्रह्म विद्या तुमको मिल जाएगी और उसका साक्षात्कार करोगे ईश्वर को पाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा पिता ये देखेगा कि तो ब्रह्मजानी हो गया है अब तो ये ईश्वर की बात करता है ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया इसने और जब पुत्र को इतना आगे बढ़ता हुआ देखेगा तो पिता को तो संतुष्टि होगी ही खुशी होगी ही एक पिता को इससे बढ़कर और क्या प्रसन्नता हो सकती है कि मेरे पुत्र ने मेरे से ज़्यादा उन्नति की है इससे बढ़कर प्रसन्नता का विषय तो एक पिता के लिए हो ही नहीं सकता है तो जब एक पिता देखेगा कि ब्रह्मजानी हो गया है मेरा पुत्र तो निश्चित रूप से उसे प्रसन्नता होगी उसका रोष दूर होगा उसका दुख दूर होगा वो कुपित नहीं होगा तो ये पहला वर नचिकेता को दिया अब दूसरे वर की ओर चलते हैं अच्छा। हम्म। प्रसृष्ट मतलब भेजा हुआ मत मेरे पास से प्रसृष्ट भेजा हुआ आगे हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अशनाय पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके अब फिर कहा कह रहे मैंने सुना है एक भूमिका बना रहे हैं दूसरे वर्ग के लिए नचिकेता कह रहे मैंने सुना है स्वर्गीय लोके स्वर्ग की बात कर रहे हैं अभी मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं वर तो तीन ही थे लेकिन तीन में ही सारा ब्रह्मांड मांग लिया जैसे वो पौराणिक कथा आती कि भाई तीन कदम चलो तो तीसरा कहाँ रखूँ दो ही में ख़त्म कर दिया उसने तो तो कहा भाई स्वर्गीय लोके ना भयम किंचन अस्थि मैंने सुना है कि स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं होता है स्वर्ग माने जिसको हम कहते हैं विशेष सुख वो स्वर्ग है वहाँ किस बात का भय वहां वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं हर प्रकार का ऐश्वर्य है हर प्रकार का दुख है ही नहीं किसी प्रकार से सुख ही सुख है तो जहाँ अत्याधिक ऐश्वर्य है साधन है चिंताएं ही नहीं है तो कह रहे हैं मैंने सुना है कि ऐसा लोक है कोई स्वर्ग लोक और वहां कोई भय नहीं होता है और न तत्र जराया विभेति करे वहां पर न तत्र तम करे मृत्यु भी नहीं है क्योंकि उसका नाम यमाचार्य है यम माने मृत्यु करे वहां तुम भी नहीं हो मृत्यु भी नहीं है वहां तो और जराया विभेति कह रहे वृद्धावस्था से कोई डर भी नहीं है यानी यहाँ की तुलना में है हम यहाँ की तुलना करें तो जितना भय यहाँ पर रोगों से है मृत्यु से है और अनेक प्रकार के दुखों से हैं तो इसकी तुलना में एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ लोक है श्रेष्ठ स्थान है जहाँ बहुत सुख है वृद्धावस्था का जो काल है वो बहुत कम है मृत्यु बहुत विलंब से आती है शीघ्रता से नहीं आती है और उसका भय भी नहीं है जैसे आजकल के वातावरण में हम जी रहे हैं तो यहाँ हर प्रकार का भय है वृद्धावस्था जल्दी है मृत्यु की निश्चिंता तो कहीं भी नहीं होती है लेकिन स्वाभाविक मृत्यु भी बहुत जल्दी आती है तो कह रहे मैंने सुना है ऐसा कोई लोक है ऐसा स्वर्ग लोक है उभे तीर्थवा अनशनाय पिपा से कह रहे भूख प्यास की बाधा भी वहाँ नहीं है क्यों जब इच्छा हो तब खाने को मिल जाता है एक तो मुक्ति है जहाँ पर भूख प्यास की बाधा नहीं है क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है और यहाँ भी नहीं है स्वर्ग लोक में क्यों जब चाहिए तब मिलेगा भूखे रहने का अवसर ही नहीं है वहाँ हर समय कुछ ना कुछ पीने को है हर समय खाने को है कोई कमी नहीं है तो कोई कमी नहीं तो उसका दुख भी नहीं है भूख प्यास का तो कहते हैं ऐसा लोग मैंने सुना है जहाँ कोई दुख नहीं कोई भूख नहीं कोई प्यास नहीं कोई बुढ़ापा नहीं कोई मृत्यु नहीं कह रहे इसकी प्राप्ति कैसे होती है उभे तीर्थवा कह रहे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके कह रहे शोक से रहित है शोक नहीं है वहाँ पे और स्वर्ग के मोदते स्वर्ग लोक में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है आनंद ही आनंद है ऐसा मैंने सुना हुआ है तो उसके बारे में भूमिका बनाई और आगे चल करके के वो वर मांगा क्या कहते हैं स तम अग्निम स्वर्गम अध्येषी मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्व भजंत एतत् द्वितीयेन वृणे वरेण कह रहे मैंने ये भी सुना है कि उसकी प्राप्ति कैसे होती कह रहे स त्वम अग्निम स्वर्गम कह रहे उसकी प्राप्ति अग्नि से होती है अग्नि माने यज्ञ हमने सुना ही है स्वर्ग कामो यज्ञ तो कह रहे उसकी प्राप्ति के लिए मैंने सुना है कि यज्ञ से उसकी प्राप्ति होती है यज्ञ करो तो प्राप्ति होती है और आजकल तो है कि हम अग्निहोत्र को यज्ञ कहते हैं अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है तो कहा कि अग्निम कौन सी अग्नि स्वर्गम जो स्वर्ग को दिलाने वाली अग्नि है ऐसे अग्नि जो स्वर्ग को दिलाती है अध्यक्षी वो मुझे आप बताइए उसको आप जानते हैं यमाचार्य प्रभ्रोही कृत तुम उसको जानते हो हे आचार्य आप जानते हैं उस अग्नि को जो स्वर्ग को दिलाने वाली है और प्रभ्रोही वो आप मुझे बताएं तुम श्रद्धानाय मह्यम उस अग्नि पे जो श्रद्धा रखता है विश्वास रखता है कि हाँ इस अग्नि से स्वर्ग मिलेगा विश्वास भी तो होना चाहिए औषधि खा तो रहे हैं विश्वास भी होना चाहिए क्या हाँ, इससे ठीक हो जाएंगे विश्वास ही नहीं है तो उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला तो कह रहे इससे जो व्यक्ति उस पर विश्वास रखता है उसको वो स्वर्ग मिलता है तो कह रहे ऐसी अग्नि जो स्वर्ग को दिलाने वाली तो है लेकिन किसको दिलाने वाली है जो उस पर श्रद्धा रखता है विश्वास रखता है तो ऐसा मैं उस पर विश्वास रखने वाला हूं मुझे विश्वास है मुझे उस ऐसी अग्नि पर विश्वास है कि उससे स्वर्ग मिलेगा तो वो मुझे आप बताइए स्वर्गलोका अमृतत्व भजंतम एतद्वितीयन वृणे वरेण कह रहे स्वर्गलोक को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे अग्नि के विषय में जिस अग्नि से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है उसको मैं जानना चाहता हूँ उस दूसरे वर को मैं आपसे मांगता हूँ उस अग्नि के बारे में मुझे आप उपदेश करें यह दूसरा वर नचिकेता ने मांगा है और इसके बाद में बड़ा लंबा प्रकरण चलता है उस अग्नि के विषय में जिसको यहाँ पर वर में मांगा और आगे चल करके एक आशीर्वचन भी दिया कि उस अग्नि का नाम आज से नचिकेता अग्नि होगा तो सोमयाग होता है बड़े या यज्ञ होते हैं तो उसमें एक प्रसंग में एक कर्म के अंदर एक अग्नि का नाम आज भी नचिकेता अग्नि है तब से शायद वो प्रसिद्ध हुआ होगा तो यह एक कठोपनिषद का प्रसंग चल रहा है अब स्वर्ग को दिलाने वाली जो अग्नि है उसके बारे में वर्णन चलेगा तो पहली बात एक पिता पुत्र के संबंध को लेकर कही गई और दूसरी बात स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कही गई जो स्वर्ग कामो यजेत के अंदर आती है बात तो आगे फिर पढ़ेंगे आज इतना रखते हैं हाँ जी जी यज्ञ का ही है ये जो स्वर्ग की बात है इसमें जो कहा कि ना मृत्यु आता है ना दुख है ना कुछ तो ये मोक्ष की बात नहीं नहीं नहीं तो यहाँ की तुलना में कह रहे हैं इस लोक की तुलना में कोई अच्छा लोक होगा जैसे यहाँ भी हम तुलना करें तो कोई देश ऐसे है जहाँ बहुत भूखमर्री है खाने को नहीं है कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर बढ़िया स्वर्ग जैसी स्थिति है तो ऐसे ही यहाँ हमारे शरीर में जितना बल होगा किसी और देश किसी और स्थान में ज़्यादा बलवान लोग होते होंगे तो वो अपेक्षा से है वो हाँ आपको लग रहा है तो अच्छा है उधर तो रविवार के बाद पता चलेगा चलिए Oh.